कि इस बच्चे को संदूक में रखो फिर इस संदूक को दरिया में डाल दो फिर दरिया को छोड़ दो कि वो उसे साहिल के पास लाकर डाल दे जिसके नतीजे में एक ऐसा शख्स इस बच्चे को उठा लेगा जो मेरा भी दुश्मन होगा और उसका भी दुश्मन और मैंने अपनी तरफ से तुम पर एक महबूबियत नाजिल कर दी थी और ये सब इसलिए किया था ताकि तुम मेरी निगरानी में परवरिश पाओ